नमस्ते नमस्ते यहाँ बैठिए डॉक्टर ये मेरी जापानी सहेली कानाए हैं इनकी तबीयत बहुत ख़राब है क्या हुआ जी मेरे पेट में दो तीन दिन से दर्द हो रहा है कानाए से कुछ खाया ही नहीं जाता चिंता ना कीजिए पेट के किस हिस्से में दर्द है इधर दाई ओर नीचे हम्म अच्छा आप खून की जांच करवा लें और उसके बाद सीटी स्कैन भी करवा लीजिए कानाए को कुछ होगा तो नहीं ना परेशानी की कोई बात नहीं है यहाँ बैठकर बाह निकालिए जी अब सीटी स्कैन के लिए उन्नीसवें नंबर की खिड़की तक जाइए जी कानाएं ये स्पष्ट हो गया कि आपको पेचिश है अच्छा इसका कैसा इलाज किया जाएगा क्या ऑपरेशन भी होगा जी नहीं ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाना काफ़ी है लेकिन जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा जी हाँ ठीक है आशा आपकी सहायता के बिना मेरा बचना मुश्किल था हिम्मत मत हारो चिंता की कोई बात नहीं अब आराम करो